दुर्गम धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं प्रत्येक व्यक्ति अपने लक्ष्य पर पहुंचना चाहता है अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए अपने लक्ष्य की और लक्ष्य पर पहुंचने के साधनों की और बाधकों की बार बार परीक्षा करनी चाहिए कोई व्यक्ति थोड़े से प्रयास से कुछ अध्ययन अध्यापन स्वाध्याय से ये मानने लगे कि अब मैं अपने लक्ष्य को क्या बार बार दोहराऊंगा आवृत्ति करने की क्या आवश्यकता है वो तो लक्ष्य है बन चुका है और इसी प्रकार उसके साधनों को भी क्या दोहराना है बार बार वो भी मैं जानता हूं उसमें जो बाधक हैं उनको भी मैं समझता हूं आवृत्ति दोहराने की आवश्यकता नहीं और मेरी स्थिति ठीक बन चुकी है ऐसे विचारने से इतने स्तर पर रहने से व्यक्ति अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकता अपने साधनों को दृढ़ता से नहीं अपना सकता अपने बाधकों को जान के अच्छे प्रकार से दूर नहीं कर सकता अपने पूर्व जन्म इस जन्म की विपरीत वासनाएं उल्टे विचार अशुभ संस्कार उनको नहीं रोक सकता उनको नहीं हटा सकता ये सारी की सारी बातें उसके जीवन को वहां नहीं जाने देंगी जहां उसको जाना था वैदिक परंपरा में वैदिक सिद्धांत को जानने मानने वालों के विषय में ये निश्चित है कि वह ईश्वर साक्षात्कार करने कराने तक पहुंचे मोक्ष प्राप्त करें ये इसका लक्ष्य है इस लक्ष्य के विषय में उसको कितना विचारना चाहिए कितना उसको बार बार समक्ष रख के ये निर्णय करना चाहिए कि वास्तव में ये मैंने जो निर्णय किया है ये ठीक है और यदि संदेह है तो फिर परीक्षण करो इसका फिर परीक्षण करो फिर वो देखता है कि किया हुआ परीक्षण मेरे मन में बैठा या नहीं बैठा यदि वो परीक्षण किए हुए को बार बार देखता है तो पता चलता है उसको संशय है अपने लक्ष्य में जैसे प्राय आप सुनते समझते पढ़ते पढ़ाते हैं कि ईश्वर प्राप्ति मुख्य लक्ष्य है पर परीक्षण से पता यह चलता है ईश्वर प्राप्ति मुख्य लक्ष्य वाला व्यक्ति तो करोड़ में एक भी नहीं मिल रहा क्या बात बात वही थी जो मैंने बतलाई कि वो उन बातों के प्रति जितने इसने आवृत्ति करनी थी जितना परीक्षण करना था अपने आप का अध्ययन करना था वो नहीं करता यदि वो करता रहता तो उसका मुख्य लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति बन जाता कोई भी इसका परीक्षण आप में से कर सकता है ये बात आपको ज्यों की तो मिलेगी लक्ष्य को इतना ही सोचने से इतना विचारने मात्र से इतना पढ़ने पढ़ाने मात्र से उस लक्ष्य की प्राप्ति कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता आप के निर्णय करते रहिए ईश्वर आनंद स्वरूप है और ईश्वर प्राप्ति करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है पर 20 वर्ष में भी वो मुख्य लक्ष्य नहीं बना दिखाई देगा आपको अध्ययन करें आत्मनिरीक्षण से पता चले नहीं बन पाया क्यों नहीं बन पाया इसमें मैंने कारण गिनाए बहुत से ये कारण हैं नहीं बनता व्यक्ति का यद्यपि ध्यान दे के यदि व्यक्ति देखता है दिन भर देख सकता है कि क्या मेरे सारे व्यवहार में चलते फिरते खाते पीते पठन पाठन आदि कोई व्यवसाय करते हुए क्या ईश्वर मुख्य लक्ष्य बना रहता है या नहीं बना रहता पता चलेगा प्राय नहीं बना रहता उपासना काल में कुछ स्थिति अच्छी बनती है यदि कोई व्यक्ति ध्यान से देखे और अच्छे प्रकार से उपासना करता है उस समय स्थिति कुछ अच्छी बनती है उपासना से उठने के पश्चात स्थिति परिवर्तित हो जाती है स्तर गिर जाता है व्यक्ति का उपासना में जो उसका स्तर बना था वह यदि बहुत प्रयास नहीं किया जाए अभ्यास नहीं किया जाए तो उपासना में जो स्थिति बनती है अच्छी सुखप्रद शांति युक्त वह वहां से उठने के पश्चात एक घंटे के पीछे और स्थिति गिरेगी कई जैसे जैसे काल व्यतीत होता जाएगा स्थिति गड़बड़ा चली जाएगी इनको कितनी बार वो व्यक्ति दोहराता है कितना परीक्षण करता है इन बातों का तब शत प्रतिशत निर्णय कर पूरा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ पाता है इसके साथ जुड़ा हुआ जो विषय है वो है जैसे सत्यार्थ प्रकाश में लिखी पांच कसौटियां इसके निरीक्षण परीक्षण में कसौटियों को साथ जोड़ते रहना पड़ता है जब कभी संदेह होता है तो कसौटियों से प्रमाणों से काम लेता है परमाणु के विषय में वह अपना निर्णय इतना रखता है या रखना चाहिए कि प्रमाणों से जो बात सत्य से उन बातों को मुझे मान लेना चाहिए प्रमाण मुख्य है मेरी इच्छा और मेरी मान्यता मुख्य नहीं है अपनी मान्यता और इच्छा को व्यक्ति प्रबल रखता है तो प्रमाणों का महत्व है उनसे किया तत्व निर्णय वो ठहर नहीं सकता उदाहरण के रूप में शब्द प्रमाण में एक बात कही गई अच्छे प्रकार से उसने परीक्षा भी कर ली कालांतर में ऐसी स्थिति में वो जो माना हुआ तत्व है शब्द प्रमाण से वो उसके ज्ञान के कारण से ढीला पड़ जाता है और वो अपनी मान्यता को प्रमुखता देता है शब्द प्रमाण की मान्यता को हटा देता है जब प्रमाण को अंतिम निर्णय करने वाला मानता है निर्णायक मानता है प्रमाण को तो अपने मन में जो विचार आए इच्छा हुई अनुकूल लगा उस बात को वो ठुकरा देता है हटा देता है नहीं मानता इसलिए प्रमाणों को कसौटियों को साथ रखते हुए इन सब बातों को बार बार देखना बार बार ध्यान देना बार बार आवृत्ति करते रहने से हमारे उल्टे संस्कार वो कमजोर पड़ जाते निर्बल पड़ जाते ढीले पड़ जाते हम यदि अच्छा प्रयास करते हैं तो हम उनको फिर रोकने में समर्थ हो जाते हैं आगे बढ़ें अगली स्थिति को देखें तो उनको हम बीज भाव बना सकते हैं बीज भाव के रूप में बना सकते हैं जिससे वो उभर नहीं सके ऐसी स्थिति में उनको ला सकते हैं एक और संसार की धाराएं संसार की प्रवृत्तियां ये इंद्रियों का प्रवाह विविध प्रकार का खाना पीना देखना इंद्रियों से संसार के लोगों को देखना उनके व्यापार को देखना सत्वरजतम का प्रभाव हमारे शरीर पर रहता है सोते हैं तो कुछ और होता है जगते हैं तो कुछ और होता है ये व्यक्ति क्यों प्रभावित करते हैं सबके सब प्रभावित करते रहते हैं आप भौतिक वैज्ञानिकों में जाओ बैठे उठो आपको भौतिक वैज्ञानिकों का व्यवहार प्रभावित कर डालेगा दूसरे लोगों में खाने पीने वाले में जाओ इस प्रकार से भौतिक भोगों में पड़े हुए में जाओ वो प्रभावित करने लगेंगे आंशिक रूप में कभी दिखाई देगा प्रभाव आपको कभी नहीं देगा और यदि ध्यान में दिया जाए तो वो प्रभाव नहीं दिखता हो आपको अंतिम दिनों में अधिक दिनों में प्रभावित किए मिलेगा देख सकता है व्यक्ति कि उस समय मेरा इतना घिरा हुआ नहीं था इतने मास पहले जो आज मेरी स्थिति ये आई और इसका प्रभाव पड़ता रहा मेरे ऊपर इन लोगों का इसलिए मेरा स्तर नीचे आया इसी प्रकार से अच्छे महापुरुष सत्यवादी योगाभ्यासी स्वाध्याय परोपकार ईश्वर उपासक जो हैं उनके पास रहते हुए उसको पता नहीं चलता वो प्रभाव पड़ता रहता उसके ऊपर उस व्यक्ति के आचरण का चरित्र का वाणी का विद्या का प्रभाव पड़ता रहता है उस व्यक्ति को पता नहीं चलता और कालांतर में यदि परीक्षण किया जाए तो वो ऐसा देखेगा कि ऐसे स्वभाव ऐसा विचार मेरा पहले नहीं था जब मैं यहां नहीं रहता था कहीं अन्यत्र रहता वो प्रभाव भी ऐसे ही पड़ता है तो हम अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए साधनों का प्रयोग करते हैं साधनों को लेकर के व्यक्ति बार बार ये सोचता है विचारता है ये साधन ठीक है ये मेरे लक्ष्य पर पहुंचाने वाले साधन है अर्थात ये जो उपाय हैं निश्चित रूपेण जिस सुख की मैं प्राप्ति करना चाहता हूं उसको ये प्राप्त करवाएंगे इसमें संदेह नहीं है यदि संशय रहता है संदेह होता है तो उन साधनों का प्रयोग व्यक्ति अच्छे प्रकार से नहीं करता संशय को न हटाने से दूर न करने से उन साधनों का प्रयोग वो ऊंचे स्तर पर अच्छी शक्ति से श्रद्धापूर्वक नहीं करता और उससे क्या होता है कभी कभी उन साधनों को वो बाधक मानने लग जाता है उसने विचार किया कि ऐसे सत्संग में मैं रहूंगा ऐसी संस्था में मैं रहूंगा ऐसे लोगों में मैं आपद धरूंगा तो मैं उन्नत होता चला जाऊंगा ऐसा उसने अपना विचार बनाया कालांतर में उन व्यक्तियों में उस संस्था में कुछ दोष भी इसकी दृष्टि में आए क्योंकि प्राय व्यक्ति में जब गुण होते हैं तो वह सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान नहीं होता कुछ दोष भी होते उसका प्रभाव दोषों का पड़ा उसके ऊपर उसको रोक नहीं पाया और ये सोचना आरंभ किया इन लोगों में रहने से इन पुस्तकों के पढ़ने से इन संस्थाओं में रहने से कुछ बनता नहीं देखता कुछ उन्नति की बात नहीं सोची जा सकती और उसने कहा कि इसको छोड़ो दूसरी जगह चलो ये उदाहरण है इस बात का कि उन साधनों का प्रयोग अच्छे प्रकार से न करने से दृढ़ न होने से ऐसे व्यक्ति उनको बाधक मान बैठा बैठता एक व्यक्ति ने संध्या उपासना विधि पूर्वक नहीं की लंबे काल तक नहीं की अच्छे प्रयोग कर करके नहीं देखे उसके तो उसको सुख शांति कुछ मिली नहीं जब नहीं मिली तो वर्षों के पश्चात पंद्रह बीस वर्ष के पश्चात वो व्यक्ति जिस संध्या उपासना को आनंद का साधन समझता था वो उसको बाधक समझने लग गया और कहने लगा इससे कुछ भी नहीं होता इतने मैंने आधा आधा इतना घंटा लगाया इतने कुछ और कार्य करता दुकान खोलता तो पैसा कमा लेता इतना हो जाता और कोई भौतिक ऐसी बातें करता तो मैं लखपति बन जाता ऐसे वो सोचना आरंभ कर देगा बाधकों का निवारण बाधक जो है हमारे लक्ष्य में उनका बार बार वो परीक्षण करता है बार बार उनको रोकता है उचित मात्रा में रोक देता है उनकी हानि को देखता रहता है तो वो पूरा जोर लगाता है पूरा बल लगाता है बाधक ने खड़े हो जाए जैसे राग द्वेष किसी के प्रति होना बाधक है काम क्रोध लोभ मोदी आंतरिक बाधक है उनके रोकने में उनके दूर हटाने में उनका परीक्षण हानि लाभ की बात में जानने से उनको दूर हटाने के लिए जितना प्रयास करना चाहिए वो उतना प्रयास नहीं करता और प्रयास न करने से उनके दोषों को न देखने से वो उसको अच्छे लगने लग जाते हैं फिर वो उनका विरोध विशेष नहीं करता जैसे कि हम एक कल्पना करें एक व्यक्ति ने देखा ये क्रोध जो है बड़ा हानिकारक है हमने समझा समझाया और हमें उस क्रोध के संबंध में उसकी हानियों को नहीं जानते अच्छे प्रकार उसके छोड़ने से लाभ होते हैं उसका हम नहीं जानते अच्छे प्रकार परीक्षण कर करके नहीं उसका प्रयोग करते बार बार ये इतना हानिकारक है छोड़ना इतना लाभप्रद है तो अनेक घटनाओं पर उन स्थितियों में वो क्रोध हमको प्रिय लगने लग जाएगा बहुत अच्छा लगने लग जाएगा फिर हम उनका प्रयोग करना आरंभ कर देंगे आपको आता है तो क्रोध ब्रह्मचारियों को क्या नहीं आता है हाँ जी है हाँ जी आता है तो हाथ खिला करो ऐसे तो क्या पता चलेगा मन में आता है शरीर वाणी और मन जो क्रोध के प्रति आप ये दृष्टि नहीं अपनाएंगे तो क्रोध को आप जीत नहीं सकते आप अच्छे प्रकार से परीक्षण करते रहेंगे चाहे वो मानसिक हो सूक्ष्म हो ये उभरता है तो संतुलन बिगड़ने लगता है व्यक्ति का बौद्धिक संतुलन उल्टा होने लगता है उल्टा विचारना आरंभ कर देता हूं विचारों में बड़ी उथल पुथल हो जाती और फिर ध्यान में दे तो उल्टा सोचना आरंभ कर देता है क्रोध के उठने पर और जैसा क्रोध रहित अवस्था में व्यक्ति सूक्ष्मता को पकड़ता है गहराई में जाता है क्रोध उभरने पर इतनी सूक्ष्मता में कभी भी नहीं जाता अहिंसा का पालन करता है जो व्यक्ति व्यापक रूप से करने से जो उसकी बुद्धि का विकास होता है दूसरे व्यक्ति का उतना विकास कभी नहीं होता एक क्रोध के दृष्टांत से सभी क्षेत्रों में इन सभी विषयों में जान लेना चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति बार बार ध्यान देना बार बार देखना कि क्या मेरा लक्ष्य गौण तो नहीं बन गया है क्या मैं अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूर्ण साधनों का प्रयोग कर रहा हूं या नहीं ऐसा परीक्षण करता रहता है दैनिक जीवन में चलते फिरते सब व्यवसाय व्यापार करते हुए व्यक्ति निरीक्षण परीक्षण करता रहता है चलते फिरते खाते पीते वो देखता है कि जैसा मैं सुनता पड़ता हूं कि या तो व्यक्ति ईश्वर की उपासना करता है व्यवसाय करता हुआ कोई भी कार्य करता हुआ या फिर लौकिक के वस्तुओं की उपासना करता है एक स्थिति इसकी बनी रहती है आप या तो सब व्यवहार करते हुए ईश्वर की उपासना में रहेंगे और कार्य भी करते रहेंगे अथवा आप लौकिक कार्यों को करते रहेंगे और लौकिक चीजों की उपासना करते रहेंगे दो स्थिति बनेंगी आप यदि आपका निरीक्षण परीक्षण बहुत गंभीर है तो सभी व्यापार को करते हुए आप ईश्वर की उपासना करेंगे और कार्य करते रहेंगे यदि नहीं है तो आप लौकिक कार्यों को जो भी कुछ करेंगे उनको करते हुए लौकिक वस्तुओं की उपासना में रहेंगे ईश्वर की उपासना छूट जाएगी ये बात वो है कि ईश्वर को आपने गौण मान लिया है ईश्वर की उपासना ईश्वर साक्षात्कार को गौण मान लिया इसमें ये काय है कभी कभी धन मान की इच्छा होती है व्यक्ति के मन में उसको न रोका जाए ध्यान नहीं दिया जाए उस धन मान की इच्छा के आधार पर उसकी ईश्वर की उपासना छूट जाती है और वह लौकिक वस्तुओं की उपासना करने में जो है प्रवृत्ति हो जाता है वो कारण बनते हैं यदि उनको बाधक माना जाता है मान और धन को वो उनको प्रभावित करते हैं तो उनको रोकता रहता है धन की इच्छा धन के बढ़ाने की इच्छा और उससे सुख मिलता है उसकी इच्छा सम्मान की इच्छा ये हमारे मन में व्यापक रूप से रहते हैं अब इनको न जाना जाए न रोका जाए तो ईश्वर प्राप्ति गौण बनेगी उसको रोका नहीं जा सकता यद्यपि पढ़ा लिखा व्यक्ति अपनी विद्या जो उसने पढ़ी पढ़ाई है है उसके पास में उसकी योग्यता है वह ये विचार करता है कि इतना तो मैं जानता हूं इतना मैं पढ़ा सकता हूं इतनी मेरी योग्यता है मुझे इस विषय में अच्छा ज्ञान है इस स्थिति में वो वास्तविकता है है उसको इतना ज्ञान और वो इसको इस रूप में देखना आरंभ कर दे थोड़ा सा कि लोग मुझे इतना तो माने ही कि इतना ये जानकार है ये तो सच्चाई है इसमें तो कोई मनमानी बात नहीं कोई पढ़ी चली बात नहीं इतना तो मैं जानता ही हूं इतना तो मानना ही चाहिए ये विचार के मन में आएगा या नहीं आएगा परमाणु से तो सिद्ध करेगा ना वो या नहीं करेगा नहीं आई बात समझ एक व्यक्ति दर्शन का एक व्यक्ति गणित का एक और किसी विषय का भूगोल खगोल का विद्वान है वो इतना तो जानता ही है मानता ही है कि मैं इस विषय का अच्छी तरह जानने वाला हूं अभिमान नहीं है इतनी विद्या तो मुझे आती है जानता है यदि वहां सावधानी न बरती जाए तो परिणाम ये निकलेगा उस विद्या का फल मान और धन उसके साथ जुड़ जाएगा या नहीं जुड़ेगा उसके साथ जुड़ जाएगा वो इस सूक्ष्मता गहराई को नहीं पकड़ पा रहा है उसके साथ जुड़ेगा तो ये वित्तेषणा लोकेशना सभी हो सकती है ऐसी स्थिति उस समय उसकी रुचि उसकी परमात्मा की रुचि हटेगी और मान और धन की और रुचि बढ़ जाएगी अब इसको तो व्यक्ति इतनी गहराई से नहीं पकड़ पाता जबकि ध्यान देता है तो पकड़ता है बहुत ध्यान देता है उसने बार बार ये परीक्षण किए हैं वर्षों तक किए कि आदि मूल परमेश्वर है ये विद्या ईश्वर प्रदत्त है इस विद्या का स्वामी ईश्वर है ये नैमित्तिक ज्ञान मेरा है और दूसरी बात वो सोचता है मैंने यदि इसके बदले में धन चाया या कोई मान चाया तो मैं ईश्वर का साक्षात्कार करने में विफल हो जाऊंगा ये देखता है तब इसको रोक पाता है वो यदि नहीं देखता तो ये प्रभावी करेंगे ये विचार हो सकता है यदि वो प्रयास अच्छा न करे तो आगे बढ़ते जाएंगे या तो इनकी रोकने की प्रक्रिया चलती रहे रोकते रहो बताते रहो रोकते रहो नहीं तो प्रवृद्धि होती जाएगी बढ़ती जाएगी उग्र होती जाएगी आप कभी देख सकते हैं क्षण में व्यक्ति के जीवन पर अपने विचारों का प्रभाव पड़ता रहता है चलते फिरते खाते पीते कुछ भी करता है उसका जैसा ज्ञान ऐसी उसकी बुद्धि जैसा विचार वैसे उसके मन वाणी शरीर पर प्रभाव पड़ता है यदि उसको न रोका जावे तो वो प्रभाव पड़ता चला जाता इसलिए उसको रोकते रहना उभरने नहीं देना उभरता है तो हमको संसार की ओर ले जाता है इंद्रियों के विषय की ओर ले जाता है सावधान न रहने से इन सभी बातों के प्रति लक्ष्य के प्रति साधनों के प्रति बाधकों के प्रति सावधान न रहने से मन आदि पर नियंत्रण सतत न रखने से ये स्थिति ऐसी होती रहेगी कितना काल लगता है भिन्न भिन्न व्यक्ति की योग्यताएं हैं किसी को कितना किसी को कितना काम लगेगा और अपनी स्थिति को वो ऐसी बना पाएगा कि किसी भी अवस्था में अपने लक्ष्य को वह गौण न बनने दे अपने लक्ष्य को न छोड़े जो साधन स्वीकार किए हैं उनको श्रद्धापूर्वक पूरे सामर्थ्य के अनुसार उनका प्रयोग करता ही रहे जो बाधक निर्वाचित किए हैं उनका प्रतिकार निराकरण करता ही रहे कभी ढीलापन न आए उनके रोकने में ऐसी स्थिति में जाने पर व्यक्ति क्या सोचता मानता है कि ये जो मंतव्य हैं सिद्धांत हैं वेद कृत ग्रंथ इनमें जो सिद्धांत मंतव्य हैं ये तीन काल में सत्य हैं इनका कोई खंडन नहीं कर सकता इनका मैं भी खंडन नहीं कर सकता ये अपने आप को कहता मैं भी इनका खंडन नहीं कर सकता और कोई दूसरा भी इनका खंडन नहीं कर सकता व्यक्ति प्रयास करे तो अपनी स्थिति को इस रूप में उपस्थित कर सकता है बना सकता है फिर आगे बढ़ो जहां अपना जीवन है अपने जीवन को ऐसा बना करके अब ये व्यक्ति दूसरे के जीवन को भी ऐसा बनाने में समर्थ होता है दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता उसी रूपरेखा का जीवन उसी स्तर का जीवन जिसने अपना जीवन ऐसा बनाया हो ऐसा जानता हो वही व्यक्ति दूसरे के जीवन को इस रूप में बना सकता है उस विधि को सारी को बता सकता है दूसरा व्यक्ति इस आदर्श रूप में दूसरे के जीवन को नहीं बना सकता हम यदि इनका प्रयोग करते हैं पूरा समय लगाते हैं ईश्वर को ईश्वर की सृष्टि को समझते हैं ईश्वर के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है उसका हमारा क्या संबंध है इसको तरह जानते हैं भूत भविष्य वर्तमान काल में ईश्वर का और हमारा क्या संबंध है वर्तमान में जो हमसे संबद्ध व्यक्ति है उनका हमारा क्या संबंध है कितना संबंध है सदा रहने वाला है या अनित्य है ईश्वर के साथ हमारा संबंध ये सदा रहने वाला है या अनित्य है इन सबको अच्छे प्रकार से विचार करके प्रयोग में लाते रहना पड़ेगा जब जब भी उथल पथल होती है विचारों में और व्यक्ति दुखी हो जाता है उसको दूर करने में ये सारी विद्या बहुत काम है बड़ा कार्य है ये जो मैं आपको सुना रहा हूं अब व्यक्ति ये नहीं जानता ये बाधक है या साधक है एक विचार आया और उसके प्रतिकूल था वो बस उथल पुथल मच गई ना भूख लगती ना नींद आती और दुखी है अब बताओ एक विचार आया उसने सारा ही पहले आनंद से था बड़ी शांति थी और बड़ा आनंद से था नींद भी आई थी रात्रि को प्रातः काल एक विचार आ गया ऐसा आ गया वहां से आया मित्र से आया संबंधी से आया और विचार प्रतिकूल था उसमें न्याय की झलक थी उसने देखा तो बड़ा अन्याय हो गया वो सोचता सोचता कहने का इतना अन्याय और पता नहीं कहां की बात उठा उठा के जाएगा फिर आगे की बात उठाएगा ये न्याय रोकना चाहिए नूरे नहीं रुकेगा तो मेरा तो विनाश हो जाएगा मुझे लोग क्या कहेंगे ये सोचने लग गया पता नहीं कितनी बात सोच सकता है वो व्यक्ति इस बात में और वो बड़ा दुखी हो जाएगा यदि उसको जानना आता है इनके संबंध में तो विचार को जट पकड़ेगा वो ये अन्याय हुआ आरोप लगा क्या है ये सत्य है असत्य वो निर्णय कर दिया असत्य यदि ये सब ठीक है तो भाई ठीक है मेरे अंदर ये दोष है ही इसको दूर करना ठीक नहीं है नहीं है तो क्या आरोप लगाने वाले ने अज्ञानता के लोभ के कारण आरोप लगाया वो लगा सकता है जीव आत्मा तो स्वतंत्र है परमात्मा के ऊपर भी आरोप लगते हैं परमात्मा तो दुखी नहीं होता तो मैं दुखी क्यों हूं ईश्वर का गुण करो स्वभाव यह है कि इन इन घटनाओं में ईश्वर दुखी हो ही नहीं सकता या हो सकता तो ईश्वर का गुण करो स्वभाव ही तो धर्म है तो जब ईश्वर का ये धर्म है तो मेरा भी धर्म यह होना चाहिए उसने समाधान ढूंढा ईश्वर का गुण करो स्वभाव तो जट समाधान कर डाला जब ईश्वर का गुण करो स्वभाव है मिथ्यारोपों को ईश्वर सदा से आया आज भी ऐसे ही रहेगा वो कभी दुखी ही नहीं होता तो मैं दुखी क्यों होता हूं कि माता जी आ रहा समझ में या नहीं आ रहा ये उसने कस के देख लिया देख लिया तो हट गई वो बात एक बात नहीं पता नहीं कितनी बातें उठा के रखी जा सकती है भाई कोई भी जीव आत्मा कभी भी मिथ्यारोप लगा सकता है और एक लगाएगा दूसरा लगाएगा या उसको लड़ो झगड़ो या उसको मारो पीटो या वो कोई मार सकता है किस किस को मारो पीटोगे आप <laughs> ये बताओ किस किस के साथ लड़ाई करोगे आप संसार में एक के पीछे दूसरा दूसरे के पीछे तीसरा हमारी शत प्रतिशत ठीक बातें हैं मंतव्य ठीक है सिद्धांत ठीक है और लोग कहते हैं सारे झूठे हैं अब बताओ क्या करोगे वो दुखी हो गया सारी सच्चाई है मेरी तो सारे मेरे सिद्धांत ठीक है मेरा आचरण ठीक है और मेरी बात को झूठा मान रहे मेरी बात को झूठा सिद्ध करे और इस कारण से वो दुखी है अब बताओ क्या उपाय है इसका दुखी रहे या दुखी न रहे ये देखो यदि दुखी रहता है तो एक को रोकेगा दूसरा कहने लग जाएगा उसको रोकेगा वो कहने लग जाएगा उसका दुख कहीं है आएगा ही इंसान दुखी रहना ही पड़ेगा उनको एक बात कहनी पड़ेगी व्यक्ति का अलग अलग ज्ञान अलग अलग उसका विचार कहीं लोभ से कहीं अज्ञान से कहीं वो तो कहेगा ही भाई जो ठीक है उसको मान लो शेष को पड़ा रहने दो यहां आना पड़ेगा उसको जी या नहीं आना पड़ेगा यहां भी आ जाता है तो सारी समस्या दूर दिन दूर हो गई यदि ऐसे स्थिति नहीं बनाता तो उपजन हटेगी ही नहीं कलेश पीसते रहेंगे कुछ आया आपको समझ में नहीं आ रहा है मानव निर्माण की पद्धति विद्या कला विज्ञान कैसे ये सीख लेना चाहिए वेद दर्शन ऋषियों के जीवन चरित्र से ये विद्या बहुत अधिक समझ में आती है प्रयोग करें तो फिर का साक्षात अनुभव होने लगता है फिर व्यक्ति जानता है वैदिक धर्म वैदिक परंपरा में चलने से कितना सुख है ऐसा जानने से क्या इन संप्रदायों से प्रभावित हो सकता है पूरे संसार भर के संप्रदाय जितने हैं उनकी संपत्ति है पूरी की पूरी कोई शक्ति उसको दिखाई देती है वो उसको सारी चीज देने लग जाए सब कुछ समर्पित कर, करने लग जाए और कहे कि वैदिक धर्म को छोड़ के इधर हो जाओ वो कभी तैयार नहीं होगा या हो जाएगा कभी भी नहीं ऐसा अपने को बनाना चाहिए और फिर दूसरे को बनाओ अपने बिना